जो अष्ट अक्षर मंत्र ओम नमो नारायण का जप करते हुए चार भुजाधारी नारायण का ध्यान करता वह वैकुंठ धाम में जाता है सब महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है कार्तिक में ही भीष्म पंचक श्रेष्ठ उसी में भी दामोदर तीर्थ है जल में द्वादशी तिथि का स्थान और भी श्रेष्ठ है दामोदर में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है दामोदर तीर्थ में जिनकी यहाँ कहीं भी मृत्यु हो गई हो वे श्री हरि के श्री विग्रह में निवास करते हैं संसार में कभी जन्म नहीं लेते सोमनाथ के समीप उदया गणार्थ नामक महान पर्वत है उसके पश्चिम भाग में रेवत पर्वत है जहाँ कंचन शेखर नदी बहती है उस पर्वत में लाल सफेद नील और कृष्ण धातु हैं उसमें कुछ पत्थर हाथी के समान आकार वाले हैं और दूसरे स्वर्ण के सदृश हैं ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र तथा शूद्रों के सेवक उस पर्वत का सदा सेवन करते हैं बहुत से पक्षी वहां चहकते रहते हैं पशु पक्षी सर्प तथा कीट पतंग आदि भी वे जीव वहां कालवश मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे उत्तम विमान पर आरूढ़ हो भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं उपयुक्त नदी धरती फोड़कर पाताल से आई है इंद्र भी स्वर्ग से यहाँ आकर उत्तम यज्ञ क्या करते अतिशय उत्तम पद पाकर व्याधिहीन स्वर्गलोक की उपलब्धि की कार्तिक में राजा बलि ने भी वह वहां आकर बहुत से दान दिए हैं हरिश्चंद्र शीही नल नहुष नभाग तथा अम्बरीश आदि ने भी वहां दुष्कर कर्म किए हैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र छत्र तथा रसी मिश्रित अन्न दान करके वे विष्णु लोक में गए हैं जहां से फिर उसे मृत्यु लोक में पुनरावृत्ति नहीं होती जो उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प फल और जल दान करता वह जलशाई भगवान श्री हरि को प्राप्त होता है जो भोग से पीड़ित मनुष्य के लिए वह एक परस्पर या मिट्टी भर भी अन्न देता है वह श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर चंद्र लोक से भी ऊपर जाता है दामोदर के आगे एक मास तक उपवास करने पर मनुष्य दामोदर नगर वैकुंठ धाम को जाता है जहाँ से फिर नहीं लौटता जो दामोदर के आगे पांच पत्थर का मंदिर बनवाता है वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है जो स्त्री भगवान का सुंदर मंदिर बनवाती वह विष्णु धाम को जाती है जो एक हजार पत्थरों का बहुत सुंदर मंदिर बनवाता वह परम ब्रह्म को प्राप्त होता है जो दामोदर मंदिर पर पंच रंगी ध्वजा फहराता है वह उसके तंतु के बराबर दिव्य वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है वहां से से दो दो कोस पर वस्त्रपथ नामक उत्तम क्षेत्र है जिसका दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुनरावर्ती रहित परम धाम की प्राप्ति होती है स्त्री या पुरुष जो भी संसार बंधन का नाश करने वाले शिव का पूजन करते वो शिवलोक में पूजित होते हैं भद्र की यह बात सुनकर राजा गज कार्तिक की पूर्णिमा का तीर्थकृत करने के लिए रंग अर्जु और सामवेद के ज्ञाता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण को श्राद्ध धर्म परायण क्षेत्रियों में दान परायण वैश्य तथा सेवक शूल तथा शुद्ध को साध लेकर उस तिथि में आए और अनेक प्रकार के दान दे अग्नि में होम करके अग्निष्ठोम तथा अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया उस तीर्थ में कितने ही पुरुष गायत्री मंत्र का जप करते और कुछ लोग मन ही मन सावित्री एवं सरस्वती का ध्यान करते कितने ही ब्राह्मण ब्रह्म जी के द्वारा संकलित पवित्र वैदिक सूक्तों का पाठ करते और दूसरे लोग अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते थे सब शास्त्रों को देखकर और बार-बार उन पर विचार करके एकमात्र ही सिद्धांत सिद्ध किया सदा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए महादेव जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो गिरते हुए की रक्षा करे चंद्रमा और सूर्य के आदि ग्रह बार बार जाकर लौट आते हैं परंतु द्वादक्षर मंत्र का चिंतन करने वाले भक्तजन आज भी नहीं लौटते जिसने हरि इन दो अक्षरों का एक बार भी उच्चारण कर लिया है उसने मोक्ष धाम का धाम तक पहुंचने के लिए मानो कमर कसली है एक भक्त व्रत नक्त व्रत आयाचित व्रत और उपवास व्रत ये तथा और भी जो व्रत हैं उनका भगवान दामोदर के आगे अनुष्ठान करके मनुष्य कृत्य कृत हो जाता है राजा गज ऋषियों के साथ वहां बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे कि इतने में ही वहां शस्त्र विमान आ गए वो पत्नी तथा देशवासियों सहित विमान पर आरूढ़ हो अनाम्य पद को प्राप्त हुए जो मानव सदा इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णुधाम को जाता है तीर्थ में पूजन श्राद्ध और दान की महिमा गृहस्थ के लिए आचरणीय शिष्टाचार दान एवं श्राद्ध का उपदेश सारस्वत मुनि कहते हैं जो गंगा जल मधु धृत कुमकुम अगर चंदन गुगुल बिल्व पत्र गुमका तथा फूल आदि अवश्य वस्तुओं का भार कंधे पर रखकर पैदल तीर्थ यात्रा करता और तीर्थ नियमित स्नान करके शिव विष्णु तथा ब्रह्म जी का दर्शन करता वह उन्हें पूजा चढ़ाता है तथा सब बंधनों से मुक्त हो प्रलय काल पर्यंत भगवान शिव का पार्षद बना रहता है जो स्त्री पुत्र मित्र भाई तथा सज्जन पुरुषों के साथ तीर्थ यात्रा करता है तथा तीर्थों में वहां के प्रधान देवता का चिंतन करता वह उत्तम गति को पाता है सुंदर देव मूर्ति का निर्माण करके उसे रथ पर स्थापित करे फिर चंदन अगर कपूर कुमकुम भांति भांति के पुष्प धूप दीप गीत नृत्य और वाद आदि के द्वारा उसकी पूजा करे जो योग करता वह जन्म भर के पापों को भस्म करके तेजो में सर्वव्यापी तथा विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान पुराण पुरुष का दर्शन करता है और मुक्त हो जाता है तीर्थों में स्नान करके संध्या वंदन श्राद्ध तर्पण आदि करने के विषय में ब्राह्मण की आज्ञा लेनी चाहिए और उसकी बातें माननी चाहिए तदंतर दर्भ तिल और हविष्यान्न का श्राद्ध पूर्वक श्रद्धा पूर्वक प्रयोग करना चाहिए तीर्थ में अगस्त भृंगराज एवं कमल के पुष्प कपूर अगर चंदन कुमकुम और तुलसी दल आदि को संकल्प पूर्वक चढ़ाने पर अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है तीर्थ भूमि में तांबुल फल नवेद तिल पूजा और जल के साथ बिल्व के बराबर पिंड देना चाहिए अमावस्या पूर्णिमा माता पिता की निधि तिथि गज छाया और त्रयोदशी तिथि को एक श्राद्ध योग्य द्रव्य और श्रेष्ठ ब्राह्मण प्राप्त होने पर पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए लिए घर पर श्राद्ध करना चाहिए सागरगामिनी नदी के तट पर श्राद्ध किया जाए तो घर से सौ गुना अधिक फल होता है मनुष्य यदि प्रभास पुष्कर गया पिंड दारक प्रयाग गोमती भय तथा भव दामोदर के सम्मुख एवं नर्मदा आदि तीर्थ में श्राद्ध करे तो उसके पितर सब पापों से मुक्त हो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और श्राद्ध करता भी उत्तम संतान पाकर तथा उत्तम भोग होकर अंत में दिव्य विमान पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को जाता है काम क्रोध लोभ मोह मद आदि माया मात्सर्य चुगली अविवेक अविचार अहंकार स्वच्छता चपलता मूलुपता अन्नना साधन आयास प्रमाद द्रोह दुस्साहस आलस्य दिव्य सुक्ता परस अन्य इत्यादि आहार सर्वथा आहार का त्याग शोक तथा चोरी इत्यादि दोषों को त्याग कर तो घर में सदाचार पूर्वक रहता है वह मनुष्य इस भूमि का देश का तथा नगर का भूषण है वह श्रीमान विद्वान तथा कुलीन है और वही सब पुरुषों से श्रेष्ठ है काम आदि के द्वारा कोई भी घर में दोष का त्याग नहीं कर पाता जिसने दोष का परित्याग कर दिया उसी के द्वारा स्नान संध्या जप होम श्राद्ध तर्पण और देव पूजा आदि सत्कर्म संपन्न होते हैं प्रयाग कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी समुद्र गया रुद्रपद नर नारायण का आश्रम प्रभास पुष्कर कृष्ण गोमती पिंड तारक वस्त्र पथ पूर्णगिरी दामोदर भीमेश्वरी नर्मदा स्कंद तीर्थ रामेश्वर आदि उज्जैनी महाकाल काशी कलिंग और मथुरा इन तीर्थों की मनुष्य यदि एक बार भी यात्रा कर लेता तो वह ब्रह्मत्य आदि समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है गंगा आदि नदियां जो समुद्र में मिली हैं उनमें पग पग पर पुण्य की निधि रूप अनेक तीर्थ हैं जिनके स्मरण मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है काम भोग में आसक्त चित्त वाले जो मूल मानव स्त्रियों में रमते हैं उनकी यह विपरीत धारणा है कि सुंदरी स्त्रियों का शरीर अपने अपवित्र शरीर से कोई भी भिन्न वस्तु है वे मुक्ति मार्ग से भ्रष्ट होकर पशु योनि में जन्म लेते हैं जो मानव पुष्टि शरीर और निरोग सुवस्था युवावस्था पाकर आदि तीर्थों में नहीं जाते वे ज्ञान शून्य खल जीते जी भी मेरे हुए मरे हुए तथा पहले शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन काट कर फिर कल्याण में मोक्ष पाने की इच्छा करें यदि ऐसा ना हो सके तो मनुष्य को सदा शुभ कर्म करना ही चाहिए प्रतिदिन उठकर स्नान करे उसके बाद भगवान विष्णु और शिव की पूजा में संलग्न हो सदा सच बोले सबका हित करे अपनी शक्ति के अनुसार दान दे पर निंदा से डरे